बाब नंबर पाँच सूबेदार मेजर रिटायर्ड जहान खान अनपढ़ था उसके बेटे आलम जहाँ ने आठवीं दर्जे तक तालीम हासिल की थी अंग्रेज़ हुकूमत की दी हुई चालीस मुरबे गैर आबाद ज़मीन के बदले हासिल की हुई आठ मुरबा जरिए अराजी के बीच एक डेरे और चंद घरों पर मुश्तमिल जिस आबादी की दाग बेल सूबेदार जहान खान ने डाली थी उसे फ़िल हकीकत इसके बेटे आलम जहाँ ने रोज़ो शब की मेहनत से जहान आबाद नामी गांव की शक्ल दी थी सूबेदार जहान खान अपनी ज़्यादातर जहनी और जिस्मानी क़वत जंगी मुहिमात में सर्फ कर चुका था जब उसे ज़िंदगी में आराम का मौका मिला तो मज़ारों के दो चार कुनबों की मदद से बामुश्किल एक तहाई रकबे पर काट शुरू करवा के उस पर कनात करके बैठा रहा आलम जहाँ जब जवान हुआ तो उसने ज़मींदारी का कारोबार अपने हाथ में ले लिया मज़ीद मज़ारे लाकर आबाद करने के बाद वो एक आध साल के अंदर तमाम तर अराजी को जेर काश ले आया उसने पुरानी तर्ज के कच्चे डेरे की जगह पर अपने ख़ानदान के लिए दस बारह कमरों का पक्का मकान तामीर कराया मज़ारों की रिहाइश के लिए कच्चे मकान बनवाए उनको गाय भैंसें खरीद कर दी नलके लगवाए मकानात की तादाद बढ़ने के साथ जो गलियां वजूद में आ गई थी उनके बीच पानी के अखराज के लिए नालियाँ निकलवाईं खाद के ढेर उठवाए और इनके लिए घरों से कुछ दूर दो चार किता ज़मीन मुख्त किए भैंसों के नहाने की खातिर आधे एकड़ में एक तालाब की तश्ील की और यूं जहानाबाद को एक मुकम्मल चक की सूरत को पहुंचाया वक्त के साथ साथ आलम जहां को तालीम की अफादियत का कुछ इल्म हो चुका था इसने अपने बेटे जहांगीर अवान को आठ बरस की उम्र में ही पढ़ने को चीफ कॉलेज भेज दिया जहाँ पे जहांगीर सीनियर कैम्ब्रिज तक तालीम हासिल करता रहा गो आखिरी इम्तहान में कामयाब ना हो सका और छोड़कर घर वापस लौट आया मगर उस मशहूर कॉलेज में क़्याम के दौरान सूबे के तमाम काबिल हैसियत ख़ानदानों के लड़कों से उसके ताल्लुक उसतवार हो चुके थे इसके अलावा उसके अंदर अपनी ज़ात में एक ऐसा अतमाद भी आ गया था जो उसके बाप और दादा में नापैत रहा था आलम जहाँ की वफात पर जहांगीर अवान ने ज़िंदगी का कारोबार संभाला तो उसका दायरा कार मज़ीद वसी होता गया देहात के लोगों को दुनियादारी के सिलसिले में सिर्फ दो जगहों से बरह रास्त वास्ता पड़ता था एक पटवारी का दफ्तर और दूसरे ज़िला कचहरी जहाँ फौजदारी के मामला निपटाए जाते थे जहांगीर अवान के दिल में इन दोनों जगहों का कोई खौफ ना था ना ही उसे वहाँ घूम फिर कर लोगों के काम करवाने में हिचकिचाहट महसूस होती थी अफसर माल से लेकर कानून गो महकमा इनहार में ज़िलादार और कचहरी में तहसीलदार से लेकर मजिस्ट्रेटों तक उसकी सुनवाई थी इस तरह उसका असर रसूख जहानाबाद की हदूद से निकलकर दूसरे गांव और कस्बों तक फैल गया था इन मामला में दाखिल होकर इसे सियासत का चस्का भी लग चुका था मकामी सियासत में तीन बरस गुजारने के बाद वो आखिर सूबाई इलेक्शनों के मौका पर मुस्लिम लीग का टिकट हासिल करने में कामयाब हो गया जाट बरदरी और अपने ताल्लुक की बिना पर उसने इलेक्शन की मुहिम सर की और हल्के से सूबाई असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ अब मलक जहांगीर अवान एम ए इलाके की बासर शख्सियतों में शुमार होता था सन पचास की दिहाई के वस्त तक ये ज़मीन नहरी पानी से सैराब होती थी और बहुत काबिल मट्टी समझी जाती थी यहाँ गन्ने गेहूँ मकई और बाजरे की काश्त होती थी और भारी फसल उतरती थी ये वो ज़माना था जब साठ सत्तर मन फ़ी एकड़ गेहूँ उतरते देखकर मशरकी पंजाब के किसान रश करते थे फिर जब हिंदुस्तान ने अपर बारी दोआब का पानी बंद कर दिया तो रातों रात ये इलाका बरानी रकबे में तब्दील हो गया कहीं कहीं पुराने कुएं लगे थे कुछ लोगों ने नए कुएं खोदे मगर बैलों की मदद से खींचा गया पानी चंद एकड़ रकबे से ज़्यादा की प्यास बुझाने के काबिल ना था देखते ही देखते सरजमीन का नक्शा बदल गया मीलों तक फैली हुई काली मट्टी और सर सब खेतों वाली ज़मीन भूरे रंग और छदरी कमज़ोर फसलों की शक्ल इख्तियार कर गई जिसमें कहीं कहीं सब्जे के पैवन लगे दिखाई देते थे किसानों ने पहली बार आसमान की जानब देखना शुरू कर दिया था बारिश की रहमत के सब दुआ गो रहते थे इसके साथ ही पीरों फ़कीरों के असर रसूख तरक्की हुए हिस्से पर काश्त करने वाले गरीब किसान हर छोटे बड़े मकामी पीर के मज़ार पे हाज़री देते और चढ़ावे चढ़ाने लगे नतीजतन गद्दी नशीनों ने अराजी के रकबे ख़रीदने शुरू कर दिए कई मज़ारों पे जहाँ पहले एक कच्ची सी कबर पे सब्ज़ झंडी लहराया करती थी चमकीले गुंबदों वाली इमारतें बन गई जिनकी शान शौकत मुरीदों के दरमियान मजीद अकीदत का मौजब बनी मलक जहांगीर ने सन सैंतालीस के बंटवारे के साथ ही अपने लिए दो फ़ायदा काम किए एक तो इसने मलक फलक शेर रिहेबलीटेशन कमीशंस की मदद से सिखों के छोड़े हुए छोटे बड़े रकबों पर कब्ज़ा हासिल कर लिया अलावा इसके मकामी महाजनों के कूच से बेशतर उनके पास गिरवी शुदा अराजियों के कागजात ओनी पोनी कीमत अदा करके हत्या लिए और कुछ दीगर अफसरान की मावनत से कुछ दोस्त धांधली के जरिए रजिस्ट्रियाँ करा के उन्हें अपनी कानूनी मलकियत की हैसियत दिलवा ली इस तरह वो अपनी ज़मींदारी को आठ से दस और दस से उन्नीस मुरबों तक फैलाने में कामयाब हो गया दूसरे इसने लोअर बारी दो आब का पानी रुकने के साथ हकूमत से कर्ज़े हासिल करके ट्यूबवेल लगवाने और ट्रैक्टर खरीद कर मशीनी कार शुरू कर दी थी गांव के बाहर उसने अपने लिए एक वसी और पक्का डेरा तमीर करवा लिया था जहाँ पे वो अब जम कर बैठ गया और अपने इलाके की निगहदाश्त करने लगा था जब जहांगीर का मुंशी एजाज के लिए बुलावे का पैगाम लेकर शुजाबाद पहुंचा उस वक्त सूरज सर पर था और एजाज सुबह का निकला अभी अभी शहर से लौटा था वो खाना खाने बैठ गया मलक जहांगीर ने ठेके वालों से बात की होगी सकीना ने ख्याल दौड़ाया इससे किसने कहा है शायद अब्बे ने कहा हो चाचे को किसने कहा बीच में टांग अड़ाए एजाज ने नवाला चबाते हुए सवाल किया मैंने बात की थी तूने तू क्यों दखल देती है खाम खा मैं खुद ठेके वालों से बात कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा कब कर लोगे उधर तनख्वाह गई इधर दो बलूंगड़े आ गए इनका भी कोई ख्याल है कि नहीं दखल ना दूं तो क्या करूं? रोज़ सवेरे शहर चले जाते हो खफ्त खुआरी करके वापस आ जाते हो अल्लाह जाने किस किस को मिलते रहते हो वही यार दोस्त जिन्होंने नौकरी गंवाई है या कोई नए बन गए हैं दखल ना दूं दखल ना दूं मेरी क्या हैसियत है एक टूटने को एक थन से लटकाया है दूसरे को दूसरे थन से ना दिन को चैन ना रात को आराम दूध तो तेरा बकरी की तरह निकलता है एजाज हंसकर बोला टूटने ना पिए तो तेरी शलवार भी गीली हो जाए सूखी शलवार में मुझे क्या इनाम मिलता है जो गीली से नुकसान हो जाएगा सकीना तेज़ी से बोली एजाज को एहसास था कि बच्चे ढाई माह के हो चले हैं और वो सकीना के नज़दीक तक न गया था वो खामोशी से सर झुकाकर खाना खाता रहा और फिर अपनी नई साइकिल पर सवार होकर जहानाबाद को रवाना हो गया एक वक्त था कि जहांगीर के डेरे पर इलाके के लोगों का हजूम रहता था फिर ला लग गया तो ज़रूरतमंदों की आमदोरफ्त कम हो गई अब जू जू वक्त गुजर रहा था और माहौल में कुछ ना कुछ आज़ादी आती जा रही थी सियासतदान पैंतरे बदल बदल कर अपने चूल्हे गर्म करने में मसरूफ़ हो गए थे गो कॉन्स्टिट्यूशन या इलेक्शन के बारे में अभी कोई जिक्र ना हो रहा था एजाज जब पहुंचा तो डेरे के अहाते में पंद्रह बीस आदमी तीन मुख्तलिफ टोलियों में चार पाइयों पर बैठे हुक्के गुड़गुड़ा रहे थे और किसानों के धीमे सुस्त लहजे में बातें कर रहे थे पीछे मुतद कमरे एक कितार में बने थे एक कमरे में जहांगीर का दफ्तर था जहां इसका एक ज़मीनों का मुंशी और एक सियासी मुंशी बैठते थे सामने के तीन कमरे जहांगीर ने अपने लिए रखे हुए थे जहां वो आने वालों से मुलाकातें करता था दो तीन कमरे मेहमान खाने के लिए मखसूस थे एजाज की इसके साथ मुलाकात गो दोस्ती की हद तक ना थी मगर जब भी इंतबात वगैरह के दौरान ज़रूरत पड़ी एजाज ने बरदरी के फ़र्द होने की हैसियत से इसकी मदद की थी एजाज ने कमरे में कदम रखा तो जहांगीर सोफे पर चार आदमियों के हमरा बैठा था चारों के लिबास से जाहिर होता था कि वो इलाके के मोतबर लोग हैं पांचों आदमी सर जोड़े नीची आवाज़ में कोई गहरी गुफ्तगु कर रहे थे एजाज की आमद पर पांचों ने सर उठाकर ऐसे उसे देखा गोया वो उनकी महफिल में मुखल हुआ हो फिर जहांगीर ने सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया और कुछ बोले बगैर हाथ उठाकर उसे बैठने का इशारा किया एजाज दूसरी दीवार के साथ बिछी कुर्सियों में सबसे आखिर वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया पांचों आदमी दोबारा सरगोशियों में बातें करने लगे एजाज ये कमरा पहले देख चुका था दरवाजे में दाखिल होते ही सामने बड़ी सी मेज़ नज़र आती थी जिसके पीछे कीमती किस्म की कुर्सी रखी थी अकब की दीवार पर चंद फ्रेम शुदा तस्वीरें लटकी थीं उनके दरमियान सबसे बड़े साइज़ में एक तस्वीर थी जिसमें जहांगीर एक सबका वजीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली के साथ खड़ा था तस्वीरों के अलावा इलेक्शनों के चंद पोस्टर भी दीवार पर टेप की मदद से चिपकाए गए थे दाएं जानब वो सोफ़ा सेट रखा था जिस पर पाँचों आदमी बैठे थे जिसका असल कपड़ा सफ़ेद चादर के ढीले गिलाफों से ढका हुआ था बाएं दीवार के साथ चंद मिली जुली सीधी पुश्त वाली और आरामदेह कुर्सियाँ एक कितार में रखी थी जिनका बैद कई जगह पे मुसलसल इस्तेमाल से उखड़ चुका था एजाज कई मिनट तक बेख्याली से अनजानी पहचानी तस्वीरों को देखता रहा जिनमें एक तस्वीर के अंदर एजाज भी जहांगीर अवान के साथ खड़ा था जब जहांगीर उनके स्कूल में खेलों का अफ्ताह करने के लिए मधु किया गया था सोफे पर बैठे हुए अफराद मुस्तकिल साजिशी लहजे में खुसर फुसर कर रहे थे उनमें से एक शख्स बराबर दूसरों की बात काटे जा रहा था अल्फाज एजाज तक ना पहुंच पा रहे थे मगर आदमी की हरकत से अंदाज़ा होता था कि वो बार बार एक ही बात को दोहराए जा रहे हैं जैसे ही एजाज को ये एहसास होना शुरू हुआ कि इन लोगों की ये कॉन्फ्रेंस कभी ख़त्म ना होगी चारों आदमी अपनी पगड़ियाँ संभालते हुए उठ खड़े हुए जहांगीर उठकर उनके साथ दरवाजे तक गया चंद मिनट वहाँ पर रुक कर उन सब ने मुतद बार रवाना होने के लिए कदम बढ़ाए और फिर वापस आकर जहांगीर से बात शुरू कर दी जैसे गुफ्तगु के खात्मे से मुतमिन ना हो एजाज सब्र से देखता रहा आखिर जहांगीर ने तीन आदमियों से हाथ मिलाकर और चौथे से बगलगीर होकर उन्हें रुखसत किया आओ जी मलक साहब क्या हाल चाल हैं जहांगीर ने एजाज से मुसाफा किया और उसके साथ वाली आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया वो एजाज से उम्र में कई साल बड़ा था और अपने मखसूस अंदाज में एजाज को कभी मलक साहब कभी भाई एजाज कभी सिर्फ एजाज और कभी आप तुम और तू करके मुखातिब करता था जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो बोला मैं तो इन लोगों के झगड़े चुकाते चुकाते तंग आ गया हूँ कभी कभी ख्याल आता है कि मैं किस कुत्ते काम में पड़ गया हूँ आप सुनाए क्या हाल चाल हैं अल्लाह का करम है भाई जहांगीर एजाज ने जवाब दिया आओ जी उधर आकर बैठो यहाँ दरवाजे के पास तो हर आने जाने वाला देखता हुआ जाता है जहांगीर उठकर मेज़ के पीछे अपनी कुर्सी पर जा बैठा एजाज मेज़ की दाहिनी तरफ कुर्सी पे बैठ चुका तो उसे ख्याल आया कि ये जगह दरवाजे के बिल्कुल ही सामने थी जहाँ से चार पाई पे बैठे लोग भी दिखाई देते थे अल्लाह का करम तो हर हाल में बराबर का शरीक होता है जहांगीर बोला ये बताओ कि गुजर गुजरान कैसे हो रही है फिर वो जवाब सुने बगैर आगे चल पड़ा तुम्हारे ठेके वालों से मैंने बात कर ली है एजाज इसकी जवाब ना सुनने की आदत से वाकिफ था जल्दी से बोला आपसे किसने कहा था हमें आम खाने से गर्ज है या दरख्त किन्ने से भाई मुझसे किसने कहा है किसने नहीं कहा इस बात को छोड़ो बंदे अच्छे हैं बात मान गए हैं जैसे जैसे खेत खाली होते जाएंगे तुम्हारे हवाले करते जाएंगे ठेके का वक्त पूरा होने की तकरार नहीं करेंगे और तुम्हें क्या चाहिए तुम अपनी मर्जी से ज़मीन तैयार करो जो दिल चाहे बेचो चाचे अहमद ने कहा था एजाज ने पूछा फिर वही बात देख एजाज तेरी एक आदत ख़राब है जिसकी वजह से तू मार खाता है और वो ज़िद की आदत है पहले इसी की खातिर तूने एक इज़्ज़तदार नौकरी गंवाई है इसमें ज़िद का क्या सवाल था एजाज ने पूछा भाई एजाज मुझे सारे मामले का इल्म है तुम्हारे कहे बगैर मैंने पूरी कोशिश करके देख ली कि नौकरी रह जाए मगर वक्त ख़राब आया है हेडमास्टर तुम्हें वार्निंग भी दे चुका था तुम फिर भी अपनी दोस्तियाँ निभाते रहे तो बच्चे किसी न किसी तरफ तो मार खानी ही पड़ती है अब तुम फिर वही काम कर रहे हो मैं ज़िद नहीं कर रहा बस पूछ रहा हूँ चाचे अहमद ने मैं पूछने पूछने की बात नहीं कर रहा जहांगीर ने कहा दूसरी बात कर रहा हूँ दूसरी बात मलक हमीद के भट्टे वाली बात एजाज चौंक कर उसका मुंह देखने लगा इसके ख्वाबो ख्याल में भी ना था कि जहांगीर इस बात का जिक्र करेगा मेरा इस किस्से से कोई वास्ता नहीं आखिर एजाज ने कहा अगर हमने पहले तुमसे बात नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई कि हमें इस किस्से का इल्म नहीं ये मेरी जॉब है कि इलाके में जो कुछ हो रहा हो इसकी खबर रखूं। मुगलपुरे का बशीर अराई मलक हमीद की मसलन को निकाल कर ले गया है कि नहीं इसमें मेरा क्या दखल है एजाज ने कहा तुम मेरे मुंह से ही कहलवाना चाहते हो मुझे तो आपकी बात की समझ नहीं आ रही भाई जहांगीर एजाज कमज़ोर सी आवाज़ से बोला तुम रोज़ाना इस मुसलन से मिलने जाते हो कि नहीं जहांगीर ने मजबूत आवाज़ में पूछा एक लहजे को एजाज के दिल में आई कि इनकार कर दे मगर जहांगीर के पुरमाद चेहरे के मुकाबले उसका इरादा ढह गया वो खामोश बैठा सर मोड़कर ज़मीन पे देखता रहा इस कमी की बात नहीं भाई एजाज आखिर को हम सब मर्द हैं अपने वक्त में सब ने अपने अपने कसब किए हैं खराबी बस एक बात की है एजाज ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो जहांगीर ने बात जारी रखी हमें खबर नहीं पहुंच रही थी कि अराई ने इसको रखा कहाँ पर हुआ है आखिर तुम ही हमारी मदद को आए मैं एजाज ने हैरत से पूछा तुम्हारा खुरा पकड़ा गया है जहांगीर अयारी से मुस्कुरा कर बोला एक आदमी तुम्हारे पीछे लगा तो तुम बेखबरी में उसे सीधा अली अहमद शेख के घर ले गए तुमने मेरे पीछे जासूस छोड़े हैं एजाज ने गुस्से से कहा जहांगीर ने अपना सर नफ़ी में और साथ ही सीधे हाथ की उंगली दाएं और बाएं हिलाई और लंबा सा कहा फिर वो उंगली सीने पर रखकर बोला मैंने नहीं मलक हमीद ने मेरा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं वो तो मेरे पास तेरी शिकायत लेकर आया था मैंने इससे कहा देख भाई हमीद तू भी भाई बरादरी एजाज भी भाई बरादरी झगड़ा नहीं होना चाहिए बस इस बात का ख्याल करना बाकी जो तुम्हारी मर्ज़ी हो करो इसका कहना है कि मुसल्ली ने औरत और बच्चे के नाम पर पेशगी ले रखी है झूठ बकता है एजाज इसी तेज़ी से बोला मलक रजब अली खुदा जन्नत नसीब करे शर्म लिहाज वाला आदमी था लड़के ज़रा मुँह जोर हैं भट्टा शुरू से रजब अली के लड़कों के हाथ में है असल में मलक हमीद ने उसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया है कहता है कि यह एक गलत मिसाल है अगर इसी तरह इसके चूड़े मसली भागते रहे तो भट्टे का अल्लाह ही हाफिज है सच पूछो तो उसकी बात मेरी भी समझ में आती है तुम बताओ अगर तुम्हारे दाक मज़ारे खड़ी फसल बेचकर रकम जेब में डालें और रफू चक्कर हो जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा मगर मैंने कहा कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लक वास्ता नहीं भट्टे वाले जाने या मुसली जाने मैं तो तुमसे दूसरी बात करना चाहता हूँ एजाज खामोशी से उसे देखता रहा यह बशीर अराई का यार अहमद अली शेख जहांगीर ने कहा इसके बारे में तुम्हारी क्या मालूम हैं अब ये तय हो चुका था कि एजाज कनीज़ को मिलने वहाँ जाता है उसके इनकार एहतजाज या गुस्से की कोई बुनियाद ना रही थी एजाज को महसूस हुआ जैसे एक बोझ उसके दिल से उतर गया हो मेरी उससे मामूली वाकफियत है उसने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ ये जो शेख बना हुआ है ये सब मरासी और जुलाहे हैं कोई शेख बन गया है कोई अंसारी आरइयों को भी अब जाकर इज्जत नसीब हुई है ये सब्ज़ियाँ बेचने वाले हमारे सामने ज़मीन पर बैठते थे खैर ये दूसरी बात है ये अहमद अली किसान कमेटी का सरगर्म का रुकन है ये कहते हैं हम किसानों के हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं ये मरासी और जुलाहे किसानों के हकूक़ को क्या जाने किसान सिर्फ जाट की ज़ात होती है खैर ये दूसरी बात है तुम्हें पता है कि ये अहमद अली नाम नेहाद किसान कमेटी का वर्कर है कभी इससे बात नहीं हुई मगर मैंने सुना हुआ है ये ट्रबल मेकर है सब अराई मरासी तुम्हारे दोस्त ट्रबल मेकर हैं मगर अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ गौर से सुनो मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों के साथ अपना रबता कायम रखो एजाज मुतजस नसरों से उसे देखता रहा ट्रबल मेकर्स की अपनी अफादियत होती है ज़्यादा घी शक्कर होने की ज़रूरत नहीं मगर अपना रसूख रखो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई नई शक्ल जल्द या बदेर आएगी हो सकता है इन लोगों को कुछ ना कुछ सहूलतें मिल जाएं। अगर ये ट्रबल मेकर हैं तो आपको उनसे क्या फ़ायदा होगा एजाज ने पूछा भोले बादशाह जहांगीर कोनिया मेज़ पर रखकर आगे झुका और एजाज की आंखों में देखकर बोला आज मैं तुझे सियासत के एक दो सबक देता हूँ सुन आप लोग ये समझते हैं कि भागने दौड़ने जलसे जुलूस करने इश्तहार बांटने और नारे लगाने से ज़िंदगी का खेल बदल जाता है इसी भोलपन में आप मारे जाते हैं दुनिया किसी दूसरी तरफ निकल जाती है सियासत के दो सबक जहन नशीन करो पहला सबक मशहूर कहावत के मुताबिक ये कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत डालो मतलब ये कि कुछ भाई बरादरी सरकार के साथ रखो कुछ ऑपोजिशन के साथ ताकि जिस किसी का राज हो हकूमत अपने ही हाथ में रहे दूसरी बात जहांगीर हाथ फैलाकर अंगूठा पहली दो उंगलियों पर मलने लगा ये है वो बोला फिर हाथ पहलू पे ले जाकर कुर्ते की जेब को थपथपाया और ये यानी एजाज ने पूछा पैसा जनाब पैसा वो वक्त गया जब हाई ख्यालात का दौर दौरा था बारह साल बाद ज़माना पलटा खाता है ना मलक को बने हुए कितने साल हो गए बारह तो ज़माना पलट गया आ वो हाथ हवा में बुलंद करके बोला जैसे कह रहा हो चिड़ियाँ फुर से उड़ गईं अब जिसकी जेब में पैसा उसके हाथ में बाग जैसे जैसे वक्त गुजरेगा सियासत उनके हाथ में आएगी जिनकी जेब मजबूत होगी फिर ये तो आपको पता ही है कि पैसे से पैसा बनता है गरीब लोग मुल्क की दौलत में इजाफा किस तरह कर सकते हैं ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसे दौलत कमाने का गुर आता है वो मुल्क को दौलतमंद बनाएगा तो गरीबों की ज़िंदगी भी आसान होगी तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो भाईजान हमारी बरदरी में तालीम की अज हद कमी है इसीलिए मेरे दिल में तुम्हारा दर्जा ऊंचा है ज़रा दुनिया पर नज़र दौड़ाओ जितने भी अमीर मुल्क हैं क्या वो जलसे जलूसों से बने हैं जी नहीं वो इन लोगों से बने हैं जिन्होंने पैसा लगाकर कारें और रेल के इंजन और हवाई जहाज़ मैन्युफैक्चर किए हैं हर एक की अपने अपने वक्त पर ज़रूरत होती है एक ज़माना गया दूसरा आ गया क्या ख्याल है इन लोगों के साथ रबता रखने से आपका पैसा कैसे बनेगा हाँ आप आए ना नुक्ते की बात पर यहाँ पता चलता है कि पढ़ाई लिखाई की सूझबूझ एक बात है और सियासत की जान पहचान दूसरी बात है अब ज़रा कान लगाकर सुनो कि क्या कुछ हो रहा है अयूब खान बॉर्डर पर सिखों की ज़मीनें सबका फ़ौजियों को अलॉट कर रहा है किसान कमेटी और किसान तंजीम ने इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई है जो वावे ओहो कावे ये नारा आपने भी सुना होगा सुना है एजाज ने जवाब दिया अब दूसरी बात यह है कि ज़रूरी नहीं इन लोगों को कामयाबी हो फौजी हुकूमत के मुकाबले में कामयाबी की उम्मीद रखना बेकार है मगर कम अज़ कम प्रेशर तो रहेगा और अगर किसी वक्त में जाकर इन डिमांडों का कोई नतीजा निकला तो फ़ायदा किसको पहुंचेगा बताओ किसानों को वाह बोले बादशाह बेज़मीन किसानों और खेत मज़दूरों को ज़मीन देकर हकूमत ने अराजी ख़राब करनी है फिर अयूब खान मुल्क में इंडस्ट्री लगाना चाहता है वो कौन लगाएगा इस बात को समझो एजाज इस सारी कार्रवाई का फ़ायदा हमें और तुम्हें होगा हमें और तुम्हें ना तो सबका फ़ौजी ना मैं ना तेरा चाचा अहमद जिस बेचारे की ज़मीन बरानी हो गई है हम बॉर्डर से चंद मील के फासले पर ज़रूर हैं मगर मकामी ज़मींदार हैं बता कि इन ज़मीनों पर हक हमारा तुम्हारा है या कि कंबलपुर के किसी हवलदार का फ़र्ज़ करो कि बेज़मीनों को ज़मीन मिल भी गई तो उनके पास काश्त के लिए पैसे किधर से आएंगे उनको फिर हमारे तुम्हारे पास ही आना पड़ेगा अब मतलब की बात यह है कि इन लोगों को अपना काम करने दो फल आ गया तो हम खाएंगे ना आया तो हमारा क्या जाता है समझ आ गई ये है नुक्ते की बात ये सियासत का दिल है दिल लोगों से वो काम लो जिस काम के वो अहल हैं उनको लीड करो तेरी तरफ से हमेशा मुझे ताउन हासिल हुआ है इसीलिए मेरे दिल में तेरी कदर है मैं चाहता हूँ कि नौकरी तो तू गंवा ही बैठा है अब अपनी तालीम को तो ना गवा एहतियात से कदम उठा और इन लोगों से अपना असर रसूख बना मुल्क की हालत गैर यकीनी है किसी को पता नहीं क्या होने वाला है पावर जिस तरफ से भी मिले हासिल करनी चाहिए ओए फतेह जहांगीर ने नौकर को आवाज़ दी जा अंदर मलक एजाज के वास्ते खाना लगवा के आप एजाज जल्दी से उठ खड़ा हुआ मैं रोटी खा कर आया हूँ अब चलता हूँ मेरी बातों पर गौर करना दरवाजे पर रुखसत करते वक्त जहांगीर ने एजाज से कहा था अपना ख़ास आदमी समझकर मैंने तुझे ये बातें बताई हैं और आते जाते रहा करो और हाँ एक दूसरी बात याद आ गई है आपस की बात है तरीके तरीके से बशीर आरई और अहमद अली को वॉन कर देना कि भट्टे वालों से मोहतात रहें लड़के मुँह जोर हैं समझ गए ना एजाज उसे मुसाफा करके रुखसत हुआ एजाज ने अगरचे सिर्फ एफ ए तक तालीम हासिल की थी मगर हालात से दिलचस्पी और एक बाखबर मिजाज रखने के बायस वो अपने आप को तालीम याफ्ता और होशियार आदमी तस्वुर करता था आज जहांगीर से मिलकर इसके अतमाद को एक धचका लगा था इसको पहली बार इल्म हुआ था कि दुनिया के बेशतर कारोबार किस असलियत के तहत चलते हैं और कौन सी ऐसी क़वतें हैं जो ज़िंदगियों पर कुदरत हासिल करके उनकी सिमत मुतन करती हैं ये इंसानी जहानत का एक नया रुख था जिससे वो अब तक नाबलद रहा था अब इसके अंदर दो मुख्तफ ताकतें बरसर पेकार थीं एक बशीर की जज्बाती जहानत जिसका मंबा इसका माहौल था दूसरी जहांगीर की चलाक जहानत जो इंसानी जबिलत से फूटती थी एजाज को एहसास था कि ये दोनों कभी एक दूसरी को काटती हुई गुजरती थी और कभी अलग होकर मतवाजी चलना शुरू कर देती थी उसे ऐसा लगा जैसे इसके अंदर एक नई आँख वाह हो गई हो जिसने इसकी बिनाई में मज़ीद एक तह का इजाफा कर दिया हो साथ ही इसे इस बात का इल्म भी हुआ कि नज़र की इस वसत से जहन साफ होने की बजाय ज़्यादा गुडमुड हो जाता है शायद इसीलिए इसने सोचा लोग किसी आसान गुर की तलाश में रहते हैं जिस पे काविश खर्च ना हो इन बातों के अलावा और उनसे कहीं जोरावर दो वाक्य ऐसे थे जिन्होंने इसके दिल में खुदबुद लगा रखी थी एक कनीज का किस्सा था जो अब राज ना रहा था और कई लोगों के इल्म में आ चुका था इसके साथ ही लगता हुआ सकीना का वो ताना था जो वक्त गुजरने के साथ तेज़ होता हुआ उसके सीने में उतरता जा रहा था सीधा घर वापस आने की बजाय वो बाईसाइकिल पर इधर उधर फिरता रहा जब वो घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी सकीना और बच्चे घर पे मौजूद ना थे सरफराज अकेला चार पाई पे लेटा लालटेन की रोशनी में अपनी एक किताब पढ़ रहा था एजाज को देखकर उठ बैठा लाला बीबी ब्यासी गई है क्यों किसके साथ गई है चाचे को गोली लग गई है सरफराज हड़बड़ा कर बोला गोली लग गई है कैसे पता नहीं साईं चल्ला आया था बीबी उसके साथ चली गई है साईं और क्या कहता था कुछ नहीं कहता था चाचा गोली से ज़ख्मी हो गया है बीबी उसके साथ चली गई है हाँ हाँ चली गई है मगर क्या कहकर गई है कहती थी रोटी पक्की हुई है रोटी को छोड़ यार एजाज की घबराहट में इजाफा होता जा रहा था बीबी चली गई है रोटी पकी हुई है एक ही रट लगा रखी है कोई काम की बात ही बता मुझे कह कर गई है लाले के साथ आ जाना तू रोटी खा चुका है नहीं चलो आओ दोनों जल्द जल्द खाना खा रहे थे के पड़ोस से रहमा चौहान आ गया दाई इधर ही बैठी थी जब चक बयासी से बंदा आया उसने बताया दाई से इतना ही पता मिला कि चौधरी अहमद को जख्म आ गया है कोई और ख़बर पहुंची एजाज के मुंह में नवाला भरा हुआ था हम्म, उसने नफ़ी में सर हिलाया मेरी मरियम ने कहा कि साथ चली जाती है मगर सकीना ने मना कर दिया कहने लगी कोई ज़रूरत नहीं साइड टांगा करवा के लाया था उसी पर हमने सवार करवा कर भेज दिया फिक्र वाली बात है जाज कोई दुश्मनी वुश्मनी तो नहीं थी नहीं चाचा अपने काम से काम रखता है हमें किसी बात की खबर नहीं मैं अभी बाहर से आया हूँ बस ये दो टुकर खा के जा रहे हैं एजाज ने घर के ताले की चाबी रहमत के हवाले की सरफराज को बाईसाइकिल के पीछे बिठाया और दोनों भाई घर से रवाना हुए चांद अपनी पूरी गोलाई को पहुंचने के बाद अब हल्का होना शुरू हो चुका था और उसकी रोशनी में किलकन की तय शामिल हो गई थी सड़क पर घड़ों से बचता बचाता एजाज तेज तेज साइकिल चला रहा था लाला मैंने कल का काम ख़त्म नहीं किया सरफराज ने कहा क्यों अभी शुरू भी नहीं किया था कि साई चल्ला आ गया बाद में क्यों नहीं किया मेरा दिल नहीं किया सरफराज ने जवाब दिया चलो कुछ देर के बाद एजाज ने कहा कल की छुट्टी कर लेना उसकी सांस फूल गई थी लाला हाँ बीवी रो रही थी तो क्या वो खबर सुनकर हंसने लगती सरफराज फिर सारा रास्ता चुप रहा जब वो घर पहुँचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था खटखटाने पर साई चलने ने दरवाज़ा खोला कोई गांव का दूसरा आदमी दिखाई दिया एक चारपाई पर सकीना और उसकी माँ बैठे थे एक बच्चा सकीना की छाती से लगा था दूसरा मासी की गोद में था अब्बास और जमीला दूसरी चारपाई पर बैठे थे सरफराज जाकर उनके साथ बैठ गया नवाज के पलंग पर चाचा अहमद टेक लगाए बैठा बातें कर रहा था जैसे भला चंगा हो सिर्फ इसकी दाहनी टांग नंगी थी जिसकी पिंडली के गिर्द चादर से फाड़ी हुई पट्टियाँ बंधी थी पट्टियों पर एक जगह खून का बड़ा सा धब्बा था एजाज ने इधर उधर नज़र दौड़ाई घर के लोगों के अलावा उसने सिर्फ साई चल्ला देखा था जो बाही चारपाई पे लेटा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था साई चल्ले की ज़िंदगी के बारे में किसी को ज़्यादा इल्म ना था वो बचपन में चाचे अहमद के बाप के घर कहीं से आ गया था और वहीं रहने लगा था साल का ज़्यादा अरसा वो मुख्तलि मज़ारों पर चक्कर लगाता रहता था जब उगता जाता तो कुछ देर के लिए चाचे के पास वापस आ जाता था कभी उसका जी चाहे तो कोई काम कर देता था वरना खाता पीता और सोता रहता था चाचे के तीनों बच्चे उसने हाथों में खिलाए थे हराम के टूटे को करोड़ दफ़ा समझाया है कि किसी को खबर ना होने देना चाचा अहमद गरज कर बोल चाचा अहमद गरज कर बोला इस माइया पागल ने माइया दाई के आगे सब कुछ बक दिया अब बंदे बंदे को खबर हो गई होगी हैं एजाज नहीं चाचा सिर्फ रहमत को पता चला है एजाज ने कहा वो माया चौहान तो ढंडोरा है उसके कान में कोई बात पड़नी चाहिए फिर जिधर हुक्का ताज़ा देखता है उधर खबर सुनाने बैठ जाता है और सारा तंबाकू फूक के उठता है चल कोई बात नहीं मासी बोली कोई बहाना बना देंगे उस वक्त कोई और बंदा मौजूद नहीं था मगर बात क्या है छुपाने की क्या ज़रूरत है एजाज ने पूछा गोलियां कैसे चल गईं बात कोई नहीं एजाज चाचा ने पिंडली के दोनों जानब उंगली से इशारा किया इधर से आई उधर से निकल गई कुछ मांस उधड़ गया बस नुकसान नहीं हुआ मगर किसने चलाई गोली एजाज ने चीमजी होकर पूछा क्यों चलाई बेशतर इसके बेशतर इसके के चाचा जवाब देता साईं चल्ला कमरे में दाखिल हुआ अहमद हो फ़कीर की बात को रद्द ना कर पट्टी करवा ले एमदू फ़कीर की बात को रद्द ना कर पट्टी करवा ले तैर जा फ्राड़िए चाचा चीख कर बोला इधर आ तेरी फ़कीरी निकालूं साई ने इसकी बात गोया सुनी ही नहीं बरकते वो मासी से बोला रेशम का एक टुकड़ा लेके आ मासी उठकर दूसरे कमरे में गई और एक दो फटे हुए कपड़े उठा लाई साई ने कपड़े हाथ में लेकर देखे और मोड़ दिए ये नकली का काम है पट्टी के लिए ख़ास रेशम चाहिए मासी पलटकर अंदर गई और इस बार सात आठ गज लंबा सुर्ख रेशम का तय किया हुआ कपड़ा लिए वापस आई ये मेरे ब्याह की पगड़ी है चाचा अहमद चिल्लाया खबरदार जो इसे हाथ लगाया मासी चाचे की तरफ देखने लगी तो साईं बोला अक्लमंद दो गज फाड़ कर मेरे हवाले कर कल रात का पट्टी लपेट कर लेटा हुआ है ज़ख़म ख़राब हो गया है ज़ख़म ख़राब हो गया तो लात चली जाएगी फिर फिरने चलने से भी रह जाएगा तुझे लंगड़ा खसम चाहिए चल जल्दी कर चाचा अहमद भी दिल के अंदर राज़ी हो चुका था मगर दिखावे के लिए मजाहमत कर रहा था मासी को पगड़ी फाड़ते देखकर बोल उठा बरकते इसे बांध कर मैं तुझे बयाने गया था बेमुराद तेरी आंख में पक्की शर्म भी नहीं रही जान जा रही है तो पक्की क्या कीमत है मासी ने कहा जान का क्या है बेअकले आज गई कल दूसरा दिन ये पग मैंने अब्बास के वास्ते रखी हुई थी अब्बास के वास्ते अल्लाह और दे देगा और किधर से लाएगी ये हिंदुस्तान का रेशम है मैं अम्बरसर से कुन्ने की दुकान से ख़रीद कर लाया था बरकते तुझे याद है पहली रात को मैंने पग खोलकर तुम्हारे मारे इसका मुंह सुर्ख हो गया था आगे पीछे की बातें करता जाता था मैंने पग खोलकर तुम्हारे चल चल अब चुप कर मासी तेज़ी से उसकी बात काट कर जल्दी से बोली झेप के मारे उसका मुंह सुर्ख हो गया था आगे पीछे की बातें करता जाता है तेरी तो अकल मारी गई है उसने कपड़ा साई के हवाले कर दिया चाचा एजाज तसली देते हुए बोला बात ठीक ही है खाली पट्टी लपेटने से तो जख्म नहीं भरता खून बंद करना ज़रूरी है ये भी एहतियात लाजमी है कि वरम ना पड़ जाए पग तो फिर भी आ जाएगी तू भी इनके साथ मिल गया है जाज जान आनी जानी होती है पुत्र हाय ये पग मैंने अब्बास के लिए संभाली हुई थी चल चाचा अब्बास ज़रा छोटी पग बांध लेगा एजाज हंसकर बोला ना हकीम को बुलाने देता है ना नाई को मासी एजाज से मुखातिब होकर बोली बैठा बैठा हाय हाय कर रहा है सारी रात और सारा दिन आंखों में गुजर गया है अब मैं क्या करूं? चलो पट्टी कर देते हैं एजाज ने उससे कहा अल्लाह मदद करेगा साई ने चूल्हे से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और रेशम के चीथड़े को आग लगा दी कपड़ा धड़ धड़ जलने लगा देखते ही देखते वो मुट्ठी भर राख में तब्दील हो गया साई चल्ले ने आगे बढ़कर पट्टी खोलनी शुरू कर दी चाचे ने उसे रोकने की कोशिश की तो साई ने सख्ती से उसका हाथ छटक दिया पट्टी उतरी तो गोली के जख्म का सुराख साफ नजर आ रहा था सकीना के मुंह से हाय निकला मासी ने एक होका भरा काली पिंडली में कटे फटे सुर्ख गोश्ते कुछ जमा हुआ और कुछ रिश्ता हुआ खून चमक रहा था इधर आप साई चले ने अब्बास को पास बुलाया फिर वो जमीला से मुखातिब होकर बोला चल तू परे मुंह करके लेट जा अब्बास आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ साई के करीब पहुंचा तो साई ने सामने से अब्बास का तहमत उठा दिया मौत साई ने हुक्म दिया अब्बास ने सर झुका लिया और साईं के हाथ से तहमद का पल्लू छुड़ाने की कोशिश करने लगा इसे छोड़ साईं ने तहमद मजबूती से पकड़े रखा उसको पकड़ उसको मेरा मुंह क्या देखता है पकड़ उसको उठा आगे से ऐ शाबाशे ऐसे ले ले अब धार सीधी मोरी पे मार ज़मीन पे ना गिरे चल अब्बास सर ने वाड़े अपने उस को पकड़े बेहरकत खड़ा रहा जोर लगा साईं बोला अब्बास में फिर भी कोई हरकत पैदा ना हुई मेरी बात सुनता है कि नहीं साई ने अपना एक मरले जितना चौड़ा हाथ उठाकर पीछे से अब्बास की गर्दन दबोच ली कर कर कर कर चल जल्दी जोर लगा अब्बास के चेहरे से कर्ब टपक रहा था इसके मुंह से भिंची हुई आवाज़ निकली नहीं निकलता जमीला दीवार की तरह मुंह किए लेटी लेटी खीकी खीकी करके हंस पड़ी सरफराज भी हंसने लगा निकलता कैसे नहीं साई गरजा तू जोर लगाए तो निकले चल जोर लगा बहाने खोर साथ ही साई ने अब्बास की गर्दन पर अपनी गिरफ्त कस दी अब्बास की आंखें उबल पड़ी उसे खांसी का एक गोता लगा तो पेशाब की एक मुख्तसर सी धार चाचे की पिंडली पर गोली की मोरी से ज़रा हट कर गिरी जिसे नीचे बह जाने से बचाने के लिए साई ने चुल्लू में भरकर सुराख के ऊपर कतरा कतरा गिरा दी चाचे ने मुंह से हा की आवाज़ पैदा की और कुलबुला कर पहलू बदलने की कोशिश की मगर मासी उसकी रान को काबू में किए हुए थी साई ने उसका घुटना खींचकर पलंग से लगा दिया जिससे पिंडली का दूसरी जानब का सुराख अब्बास के सामने आ गया चल धार मार साई ने अब्बास की हिम्मत बढ़ाई मार मार मोरी पर मार मोरी पर साई की गिरफ्त नरम होने से अब्बास की सांस बराबर हो चली थी मगर उसकी खांसी ना रुकी थी खांसी के दौरे में उसके पेशाब की दूसरी धार बरामद हुई जो पिंडली को साफ बचाती हुई बिस्तर पर गिरी हसिया बेईमान साई बोला तेजी से उसने अब्बास का उज्व अपने हाथ में लिया और उसका रुख सीधा करके बकिया धार को ऐन जख्म पे गिराया फिर उसने दोनों हाथ अब्बास के जिसम से उठा लिए चल अब दफ़ा हो जा अब्बास ने जाते जाते जमीला की कमर पे एक लात जमाई सरफराज के सर पे ज़ोरदार धप लगाया और सहन में निकल गया अब्बा जमीला लात खाकर चीखी चाचा अहमद पेशाब के तेजाब से तड़प कर साकिन हो चुका था साई ने रेशम की राख मुट्ठी में भरी और उसे पहले पिंडली की एक जानब फिर दूसरी जानब दोनों सुराखों में मल दिया जब वो उंगली की मदद से राख पेशाब और खून के लेप को जख्म में भर रहा था तो चाचे के मुंह से गाली निकली और वो ज़रा सा उछला मगर अब उसका दम ख़त्म हो चुका था मासी और साई ने एक ताज़ा चादर फाड़कर टांग पे कसकर पट्टी बांध दी चाचा हाय जालमो कहता हुआ मुंह मोड़कर पहलू के बल लेट गया कुछ मुंह से बोलो कि ये हादसा कैसे हुआ एजाज ने पूछा मासी और सकीना एक दूसरे की तरफ देखकर खामोश हो रहे साई चला अब फारिग होकर सहन में अपनी चारपाई पे बैठा बिकते हुए हुक्के को सुलगाने की खातिर इसकी नली को मुंह में लेकर लंबे लंबे सांस खींच रहा था एजाज मायूस होकर बाहिर साईं के पास जा बैठा साईं एजाज ने कहा तू ही कुछ बता क्या बताऊं चाचे को गोली कैसे लगी पुलिस ने मारी है क्यों क्या मामला हुआ है मामला क्या होगा सामान इधर से उधर जा रहा था पुल से टाकरा हो गया कैसा सामान कहाँ जा रहा था तुझे नहीं पता एजाज ने सर हिलाकर लाइलमी जाहिर की रोज़ की बात है कोई आज की तो नहीं साईं बोला पुलिस के साथ भी मामला ठीक है अपना हिस्सा निकाल लेते हैं सारों का काम चलता रहता है कल ये कोई नए रंग रूट थे गोली चला दी फिर फिर क्या अहमदो चुप चुपा कर दौड़ आया जख्म को लेकर आया एजाज ने हैरत से पूछा और क्या बुढ़े में अभी भी बड़ी जान है एजाज खामोश बैठा साईं चल्ले के हुक्के की गुड़गुड़ सुनता रहा फिर बोला साईं चाचा स्मगलरों के साथ मिला हुआ है कोई भी नाम दे ले बच्चे क्या फ़र्क पड़ता है फ़र्क तो पड़ता है साई एजाज ने कहा क्यों टब्बर ने रोटी नहीं खानी बारह चौदह किले बरानी ज़मीन से क्या मिलता है नहर लगती थी तो रोटी चल जाती थी पानी बंद हुआ तो ज़मीन पेट भी नहीं भरती ये पलंग देखा है जिस पर एमदू पड़ा है पूरा डेढ़ सौ रुपया लगा है इस पर यह पैसा कहाँ से आया है दो छोटे जी हैं दो साल में लड़की ब्याने वाली हो जाएगी तू अपने घर में सुख से बैठा है बैठा रह दूसरों की जैसी गुजरती है या वो जाने या उनका खुदा जाने तोबा कर तोबा एजाज दिल में शर्मिंदा सा होकर चुप हो रहा साई ने हुक्के की नली उसकी तरफ बढ़ा दी एजाज ने कश खेचा तो उसे उछू लग गया कड़वा तंबाकू है वो खांसते हुए बोला जब उसकी सांस बराबर हुई तो उसने पूछा साई किस किस्म का माल इधर से उधर जाता है गुड़ साई बोला गुड़ हाँ उधर से खांड आती है हिंदुस्तान में कारखाने हैं फिर गुड़ क्यों उधर जाता है वाह बहुजाज तू मास्टर का मास्टर ही रहा भाई उनका कमा तो सीधा कारखानों में चला जाता है पैसे नकद जेब में आ जाते हैं मगर गुड़ के चावल और शक्कर की चूरी खाने वाले उधर बैठे हैं उनके लिए गुड़ इधर से जाता है तेरी बात तो ठीक है एजाज ने हंसकर कहा और क्या कुछ जाता है दाने दाने गंदुम भई गंदुम और सोना सोना हाँ अरब से हाजी सोना लेकर नहीं आते हिंदुस्तान में बड़ा मोल मिलता है उधर से क्या आता है लाची गरम मसाला खांड लट्ठा साई ने हुक्के की नली दोबारा एजाज की तरफ बढ़ाई तो उसने मोड़ दी एजाज ने कभी कभार सिगरेट पीने शुरू कर रखे थे उसने जेब से डिबिया निकाल कर सिगरेट सुलगा लिया साई चल्ला लालची निगाहों से सिगरेट को देखता रहा फिर बोला इसका तंबाकू कड़वा है पी कर देख लो एजाज ने जलता हुआ सिगरेट साई को दे दिया साई ने मुट्ठी के एक सिरे में सिगरेट दबाया और दूसरी जानब से लंबा सांस खींचा जैसे हुक्का पी रहा हो दो कश लेकर उसने सिगरेट वापस कर दिया मज़ा नहीं आया एजाज ने पूछा साई ने फैसला कन अंदाज में सर को नफ़ी में हिलाया जब तक आवाज़ ना निकले मज़ा क्या आए वो हुक्के की नली को मुट्ठी में दबोच कर बोला एजाज ने अपनी उम्र हुक्के के आसपास गुजार दी मगर इस बात का फहम उसे पहली बार हुआ कि सुनसान रातों में कुत्तों के भोंकने और मुरली की आवाज़ की मानंद हुक्के की गुड़गुड़ में भी कुदरती आवाज़ों का सा तमानियत का एहसास था साईं चल्ले ने सीने के ज़ोर से कश पे कश लगाकर हुक्का चला लिया था साईं एजाज साईं एजाज ने पूछा सामान किस ज़रिए से इधर उधर आता जाता है साई चल्ले ने ऐसे एजाज को देखा जैसे उसकी कम इलमी पर हैरत ज़दा हो डंगरों पर फिर उसने मुख्तसरन कहा बल्दों पर साई चल्ले ने दोबारा हैरत से उसे देखा फिर हुक्के का एक लंबा कश लिया गोया एजाज की खामियों के आगे हथियार डालने का ऐलान कर रहा हो ज़मींदार होकर तुझे बल्दों का इल्म नहीं वो बोला बल्द की गर्दन और टांगों में ज़ोर होता है कमर कमज़ोर होती है बोझ को खींच लेता है उठा नहीं सकता बल्द जाते हैं कभी कभी क्या लेकर सूत हिंदुस्तान में लठे के कारखाने हैं और गंदुम ऊँटों पर गुड़ शक्कर घोड़ों पर सोना कभी सूत में कभी गुड़ में जहाँ जगह मिली छुपा दिया बंदे भी साथ जाते हैं साई ने नफ़ी में सर हिलाया डंगरों को हाँक देते हैं उधर से वो पकड़ लेते हैं फिर डंगर कहाँ जाते हैं उधर से माल लाद कर इधर को हाँक देते हैं हिसाब कौन रखता है कैसा हिसाब नाप तोल का कीमत का एजाज ने कहा एक एक पैसे का हिसाब होता है पैसे देने दिलाने हो तो फिर बंदे आते हैं लाहौर से कारें आ जाती हैं उधर अमृतसर से आती हैं लेन देन पर कभी झगड़ा नहीं हुआ ये शरीफों का कारोबार है कल रात को तो किस्मत ख़राब थी जो लाहौर से कारों पर आए नए और ओछे लोग थे पैसे हाथ में आए तो नाचने और ठट्ठा करने लगे उधर पुलिस वाले भी रंगरूट थे एक बार ललकारा और गोली चला दी कल उधर से बंदे आ रहे हैं मिठाई लेकर देखना कैसे शरीफ लोग हैं यहाँ आ रहे हैं एजाज ने चुकन्ना होकर पूछा उधर खेत में मुलाकात रखी है क्या करने आ रहे हैं उनको पिछले पैसे पहुँच गए हैं खुशी करने आ रहे हैं ये रिवाज है चाचा तू ज़ख्मी है एजाज ने कहा कैसे जाएगा मरता मरता भी जाएगा देख लेना ये इज्जत बेजती का सवाल है तू भी चला चलना एजाज कुछ देर तक खामोश बैठा साईं की पेशकश पर गौर करता रहा साईं के हुलिये से लग रहा था कि एजाज के बचकाना सवालों से उकता चुका है साईं फिर एजाज ने पूछा कभी तू भी उधर गया है यह सुनकर साईं चलने की दिलचस्पी लौट आई जाता रहता हूँ माल वगैरह के सिलसिले में हम्म अकेला जी हूँ क्या ज़रूरत है कि इस कारोबार में पढ़ूँ मज़ारों पर जाता हूँ फ़िरोज़पुर में मेरे ख़ास मुर्शद हैं तुझे कभी पुलिस ने नहीं रोका पहले पहले पकड़ते थे एक दफ़ा मुझे सात दिन तक बंद रखा सवाल जवाब करते रहे कहते थे मैं जसूस हूँ फिर क्या हुआ होना क्या था मैंने कहा भाई मैं तो फेरे का फ़कीर हूँ जिधर फेरे का हुक्म आ गया उधर निकल पड़ा कहते हो तो इधर ही बैठ जाता हूँ एक वक्त की रोटी देते रहो बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सलाह अंदर अंदर से उन्होंने फिरोजपुर में मेरे मुर्शदों से पता किया फिर कहने लगे जा चला जा अब मैं एली एली करता हुआ जाता हूँ मुझे सब जानते हैं कभी कभी कोई रंगरूट अफसर आता है तो पकड़कर बिठा लेता है फिर दूसरे गवाही देते हैं तो छोड़ देता है साईं एजाज ने पूछा अगर वह तुझे ना छोड़े तो तू उधर ही रह जाता ना जी ना सारे सिख थे मुराद तम्बाकू को हराम जानते थे रोटी खा खा कर मेरा हाजमा ख़राब हो गया था जान आती रह गई थी हुक्के से मेरी रोटी नीचे उतरती है जाड़े अरूज पर थे सहन में दिन के वक्त तीन चारपाइयाँ पड़ी रहती थी जिन पर घर के लोग और आने जाने वाले दिन भर बैठे सर्दियों की धूप का मज़ा लेते थे गेहूँ चने और दूसरी दालों की फसलें बोई जा चुकी थीं मर्द बैठे हुक्का पीते और औरतें हांडी के लिए सब्जियां काटती रहती थीं साईं चल्ले के क्याम के दौरान एक फालतू चारपाई अंदर से निकल आती थी जिस पे उसकी गुदड़ी का कब्जा रहता था ये चारपाई दिन रात सहन में बिछी रहती थी बाकी की रात के वक्त दीवारों के साथ लगाकर खड़ी कर दी जाती थी और बारिश की आमद मतवक़ा हो तो उठाकर सहन वाले कच्चे कमरे में रख दी जाती थीं साईं के पास कंबल लपेटे बैठे बैठे एजाज को भीगती हुई सर्द रात में थकावट महसूस होने लगी मगर उसका जी घर के अंदर जाने को ना चाह रहा था वह उठा और एक दूसरी चारपाई पर कंबल आधा नीचे और आधा ऊपर ओढ़कर लेट गया नींद उसके सर को चढ़ने लगी सोने से पहले नींद की हद पर उसके सामने दो मंजर नमोदार हुए एक कनीस की सूरत थी दूसरा जहांगीर का चेहरा था जो कह रहा था इस ज़मीन पे हमारा हक है है ना कि कैमलपुर के किसी हवलदार का तुम्हारे चाचे की ज़मीन बरानी हो गई है रात के किसी वक्त उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सर तले तकिया रख रहा है उसने आंखें ना खोली और ना चेहरा देखा मगर हाथों के लम्ब से उसे मालूम हो गया कि यह सकीना थी फिर सकीना ने उसके जिसम को भारी लिहाफ से ढांप दिया वो सर्दी से सुखड़ा पड़ा था लिहाफ के नीचे उसके बदन को बेपना आराम महसूस हुआ एजाज दिन चढ़े तक सोया रहा हती के धूप आधे सहन में फैल गई दिन भर वो चाचे अहमद को रात की मुहिम पे जाने से बाज रखने की कोशिश करता रहा मगर साई चले के बकोल चाचा जिद का पक्का निकला टांग जाए तो जाए बात ना जाए जाज ये काम कॉल पर चलता है सारी पग की बात है पग पग करते रहते हो चाचा तुम्हारा खून पहले ही निकल गया है अब जान भी दोगे हाय नए ज़माने के लड़को तुम्हें किस बात की खबर है ना पक की इज्जत ना जान की चाचा तेरी जान की इज्जत ही तो कर रहा हूँ एजाज ने कहा इसी बात का तो तुझे पता नहीं बच्चे चाचा बोला जान की इज्जत इसे बचाकर रखने में नहीं तली पर रखने में होती है एजाज आज तक चाचे को अपनी मासी के खाविंद और बीवी के बाप की हैसियत से और एक मामूली जिम्मेदार की शक्ल में पहचानता आया था इससे ज़्यादा जानने की उसने कभी कोशिश ही ना की थी आज उसे चौधरी अहमद खान राठौर की नई शक्ल दिखाई दी थी इससे पहले सिर्फ एक बार उसे इस शख्स के मिजाज का हल्का सा अंदिया मिला था जब चंद बरस पेशतर एजाज के बाप की मौत पर रोती हुई मासी को तसल्ली देते हुए चाचे ने कहा था चल अब चुप कर जा बेचारे का सीना अंग्रेज़ों की पहली लड़ाई में ही बैठ गया था फिर भी इतनी लंबी उम्र गुजारी हाथ पैरों का नहीं तो दिल का बहादुर आदमी था रोने की क्या बात है अल्लाह बेहतर करेगा जान तो आनी जानी होती है और एजाज दिल में कुछ हैरान हुआ था कि चाचा गमजदा होने की बजाय कैसी बात कर रहा है या फिर जब याकूब अवान ने सकीना का रिश्ता मांगा था तो चाचा बोला था तू दूसरी कौम का आदमी है जकूब पर तेरा लड़का बहादुर है नूरपुर की कौडी में जिस दिन उसने जीजे तरखान का दम तोड़ा था मेरे दिल को वो उसी दिन लग गया था जा मेरी रजामंदी है फिर चाचा दोबारा अपने रिश्तेदार के रूप को लौट गया था अब इतने अरसे के बाद एजाज को चाचे की दूसरी ज़िंदगी की खबर मिली थी उसी वक्त उसने फैसला कर लिया कि वो रात को रुकेगा और इन लोगों की खुशी में भी शरीक होगा अब सूरत हाल अचानक उल्ट गई थी अब चाचा अहमद खान के साथ जाने से मना करने लगा ये काम ख़तरनाक है जहाज़ अपनी मासी के पास रह हम रात की रात में आ जाएंगे चाचा मैं तो दौड़ लगाकर भी आ जाऊंगा तुम चल भी नहीं सकते खतरनाक तेरे लिए है या मेरे लिए ना दौड़ने की बात है ना भागने की चाचा बोला दिल की बात है तुझे इन चीज़ों की मश्क नहीं मश्क से दिल मजबूत होता है दिल छूट जाए तो पैर भी सीधा नहीं पड़ता फिक्र ना कर चाचा मेरा दिल नहीं छूटता एजाज ने कहा अब दो मसले जेर बहस आए पहला ये कि चाचा वहाँ कैसे जाए डंगर की सवारी करे तो बैल डकराएगा घोड़ा हिनहनाएगा गधा ढींचू ढींचू करने लगेगा एजाज ने बाईसाइकिल की पेशकश की तो चाचा और साईं हंसने लगे जैसे मजाक की बात हो आखिर साईं चले की घोड़ी पे फैसला हुआ दूसरा मसला अब्बास का था वो साथ जाने पर मिसर था और वो जाता तो फिर सरफराज को कौन रोकता बासा तो पढ़ाई वढ़ाई के लायक नहीं चाचे ने कहा मैं कहता हूँ इसकी मश्क हो जाए तो अपनी रोटी तो कमा लाएगा मगर सरफराज ताले बिलम है एक दिन हैसियत वाला हो जाएगा क्यों इसको खतरनाक कामों में डालते हो साई चल्ला उस वक्त मदद को आया कोई माल तो आना जाना है नहीं एमदू खुशी का मौका है पीछे पीछे चले आएंगे जबान बंद रखेंगे अल्लाह मदद करेगा तेरे इख्तियार में हो तो इन्हें मज़ारों पर ले जाए और भंग पिला पिलाकर फ़कीर बना दे चाचे ने कहा तेरी हिदायत अल्लाह किसी गरीब को भी ना दे एजाज के दिल में भी बच्चे के बारे में वसवसा था मगर उसने आज तक सरफराज की किसी बड़ी ख्वाहिश को रद्द ना किया था वो चुप रहा इतने बड़े बड़े अब्बास बाहें फैलाकर सरफराज को बता रहा था जलेब होते हैं एक आदमी पूरा जलेब नहीं खा सकता रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी चाचा अहमद साई चल्ले की चौड़ी पुश्त पे सवार था उसके बाजू साई की मोटी गर्दन और टांगें उसकी कमर के गिर्द लिपटी थीं एजाज हल्के पाँव इनके साथ चल रहा था दो कदम पीछे अब्बास और सरफराज पिल्लों की मानिंद ताकुब कर रहे थे साई ने उनसे कह रखा था कि पैरों की आवाज़ ना आने पाए चुनाचे उनके चलने का अंदाज कुछ यूं था कि टांगे ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर उठाते हुए जिससे उनके घुटने तकरीबन नाफ की सतह तक पहुंचते थे अपने तई फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे सिर्फ साई चल्ला मामूल के मुताबिक भारी चाल से चाचे को पीठ पे उठाए आगे बढ़ रहा था हर आदमी फरलांग पर वो सांस लेने को रुक जाता मेरी गर्दन का कव्वा ना दबा एमदू मेरा दम रुकता है वो सरगोशी में कहता बोझ को मेरे मोंडों पर रख और नीचे नीचे ना लटकता जा जैसे टट्टी करने बैठा हुआ है राने दबा के रख तू सवारी का तरीका भूल गया है अपना वक्त याद कर साई चाचे ने जवाब दिया जब ठीकरी वाले मज़ार के फ़कीरों ने मार मार के तेरा पेशाब निकाल दिया था मैं चार मील तुझे उठाकर लाया था और मेरे मुंह से एक कलमा नहीं निकला था आज मेरे ज़ख्म आ गया है तो तू बातें करता है एजाज को इल्म ना था कि चाचा कब की बात करता था मगर आज साईं चल्ला पैंसठ साल की उम्र से कम क्या ही होगा वो उस बुढ़े बदन की ताकत पे हैरत ज़दा था एक आध बार उसने साईं का बार उठाने की पेशकश भी की थी मगर साईं ने उसे ठुकरा दिया था अभी मेरे मोंडों में जोर है बच्चे साईं ने कहा मैंने अपनी ताकत संभाल कर रखी है इधर उधर ज़ाया नहीं की मुफ्त की रोटियां पाड़ पाड़ कर पला हुआ है चाचा बोला सुट्ठा पट्टा है सुट्ठा पट्टा अब चर चर ना कर साई ने जवाब दिया मैं तेरी चालों को जानता हूँ ऊपर होकर बैठ मेरी गर्दन की जान बख्शी कर नाड़ों में हवा आने दे पांचों नफूस बदनों पे काले कंबल लपेटे हुए थे यूं कि रात के अंदर उनकी हरकत भी दिखाई ना देती थी बॉर्डर से आध मील इधर पचहत्तरी मक्की का एक खेत खड़ा था उसके अंदर मुलाकात की जगह मुकर्र थी चाचे और साईं की पार्टी कुछ देर से वहाँ पहुंची वो खेत में दाखिल होकर अंदर तक चले गए मगर किसी बशर के आसार उन्हें दिखाई ना दिए दरमियान में पहुंचकर वो रुक गए उन्हें वहाँ खड़े हुए एक मिनट गुजर गया तो अचानक एक टॉर्च जिसके शीशे पर काले रंग का कपड़ा लिपटा था चमकी और उसकी मध्यम रोशनी उन पांचों में पड़ी उनसे बामुश्किल दो गज के फासले पर चार सिख मर्द बैठे थे उन सब की दाढ़ियाँ मुंडी हुई थीं गो सरों पे सिखों की मखसूस पगड़ियाँ मौजूद थीं उन्होंने चंद पौधे उखाड़ कर खेत में एक गोल सी जगह साफ कर रखी थी और पौधों को ज़मीन पे बिछाकर उन पे बैठे हुए थे उन्हें देखते ही साईं चल्ले ने चाचे की टांगों के नीचे से अपनी बाहें खींच ली और एक झटके से अपनी गर्दन के गिर्द चाचे के बाजुओं की गांठ खोल दी चाचा अहमद मिट्टी की बोरी की मानिन ज़मीन पे आ गिरा हाय बेमुराद चाचे के मुंह से दर्द की एक चीख निकली जिसकी आवाज़ को वो दबा गया एजाज ने चाचे को सहारा देकर उठाया चाचा एक टांग पे उछलता हुआ सिखों की पार्टी के पास जा बैठा उन्होंने एक दूसरे के शानों पे हाथ रखकर इस्तकबाल किया हमको तो आज सवेरे खबर मिली गुरु सिख बोला भई मानू ने पैसे खाकर तेरे साथ ये कसब किया कोई रंगरूट होंगे चाचे ने कहा तेरे साथ तो उनका टाकरा नहीं हुआ हम्म सिख सर हिलाकर बोला आज तो बॉर्डर शमशान बना हुआ है सरदार और मुसले दारू पीकर लेटे होंगे किधर चोट आई है चाचे ने कंबल का कोना उठाकर टांग नंगी की मांस का जख्म है नुकसान नहीं हुआ बड़ा करम हुआ है गुरु सिख ने कहा रंगरूटों के निशाने का भी क्या पता ज़रा ऊपर लग जाता तो तेरा ख़ज़ाना ही उड़ जाता सब हंसने लगे तेरा ख़ज़ाना अभी चलता है ना सिख ने पूछा चलता कहाँ है साई चल्ले ने जवाब दिया अब तो बयासी की नारें भी ताने देने लगी हैं साई ने अपना ख़ज़ाना दा खाने में जमा करा रखा है चाचा बोला इसे क्या पता खर्च करने का साई की तो बड़ी बचत हो गई होगी एक नौजवान सिख बोला सबके अंदर हंसी की लहर दौड़ गई जिसकी आवाज़ उन्होंने अपने हल्के से बाहर ना निकलने दी बड़े सिख ने पगड़ी उतारकर ज़मीन पर रखी और बालों में उंगलियां फेरकर खारिश करने लगा पगड़ी के नीचे उसके बाल मुंडे हुए थे फिर सिख ने दोबारा टॉर्च जलाकर उसकी रोशनी एजाज और दोनों लड़कों पे फेंकी और आंखों पे जोर देकर पहचानने की कोशिश की भाई अहमद खान तू बालकों को भी ले आया है जिद करके आ गए हैं चाचे ने कहा मैंने तो कहा था कि मेरे जख्म को देखो और सबक पकड़ो ये ख़तरनाक काम है ये ना माने कहने लगे हम जरनैल सिंह के जलेब खाए बगैर ना रहेंगे लाओ सिंधु जरनैल सिंह ने कहा थाल आगे कर नौजवान सिख ने अकब से एक बड़ी सी परात उठाई और दरमियान में ला रखी परात कपड़े से ढकी हुई थी जरनैल सिंह ने कपड़ा उठाया तो सरफराज की आंखें खुली की खुली रह गईं अब्बास के मुंह में पानी आ गया अब्बास ने जलेब पहले देख रखे थे मगर सरफराज सिर्फ हलवाई की दुकानों पर बनी हुई जलेबियों से वाकिफ था अब्बास ने जलेब पहले देख रखे थे मगर सरफराज सिर्फ हलवाई की दुकानों पर बनी हुई जलेबियों से वाकिफ था इतने बड़े बड़े जलेब जो पूरी परात के पैंदे को ढके हुए थे उसने कभी ना देखे थे परात में जलेबियों की ऊपर नीचे कई तह लगी थी उनके ऊपर मुर्गी के अंडे के बराबर शक्कर पारे बिखरे हुए थे एजाज के ख्याल में चौदह बरस पुरानी याद लौट कर आई और दिल में एक मीठी सी हूक उठी कबीर सिंह वाले में आखिरी बार उसने सिखों की एक शादी पर इतने बड़े बड़े जलेब और शक्कर पारे देखे थे लो जी हाथ उठाओ बिस्मिल्लाह करो सरफराज जरनैल सिंह के मुंह से बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ सुनकर हैरान हुआ साईं चल्ले ने सबसे पहले मिठाई पे हाथ मारा उसने एक पूरा शक्कर पारा मुंह में भरा और दोनों हाथों से ऊपर वाला साबुत जलेब उठा लिया शक्कर पारा निकलने से पहले ही वो जलेब को दांतों से काट काट कर खाने लगा सरफराज का जी चाह रहा था कि जलेब उसी तरह साबुत के साबुत परात में रखे रहें अपने आतिशी रंगों में धीमे धीमे चमकते रहें और कोई उनको ना तोड़े मगर अब एक के बाद एक जलेब टूट रहा था चाचे ने एक जलेब के तीन टुकड़े किए उसने बड़ा टुकड़ा एजाज को और दो छोटी अब्बास और सरफराज को दिए सरफराज उसे हाथ में हाथ पकड़े देखता रहा यहाँ तक के चारों तरफ से कुरकुरे जलेब चबाने की आवाज़ें आने लगी फिर उसने भी एक कोना तोड़कर मुंह में डाला ये तो तेरा अपना है भाई अहमद खान जरनैल सिंह अब्बास पर टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए बोला दूसरे वो कौन हैं ये भी मेरे ही हैं चाचे ने कहा यह मेरी बेटी का आदमी है स्कूल में मास्टर है चाचे को खूब इल्म था कि अब एजाज स्कूल मास्टरी से फारिग हो चुका है मगर वो दूसरे लोगों को अभी तक मास्टर करके ही बताता था ये छोटा इसका भाई है स्कूल जाता है पढ़ाई में काबिल है हाँ जी क्यों ना हो भाई मास्टर है गुरु तरक्की दे जलेब खाने रोज रोज ना आ जाया करना दुनिया में रहकर तरक्की करना हम तो गर्क होकर इस काम में पड़े हैं ना जान का एतमाद ना जहान का छुटका सा बंदा उठकर हमको बंदूक मार देता है अच्छा साईं तू सुना आज इधर कैसे आ निकला एमदू की लात आज नकारा थी सारों ने समझाया कि ना जाओ ये अड़ियल अपनी जिद पर खड़ा रहा पीठ पर लाद कर लाया हूँ मेरे मोंडे लटक गए हैं बड़े दिन हो गए हैं तू हमारी तरफ के मज़ार पर दिखाई नहीं देता क्या किस्सा है वहाँ रोटी सूखी सूखी मिलती होगी ना चाचा बोला वो कोई मज़ार है साई ने कहा मस्टंडों का डेरा है मेरा दिल कहता है उस बाज़ार में कोई खच्चर दबाया हुआ है उधर कोई फ़कीर भी जाता है तो उसके कपड़े उतार लेते हैं मैं कहता हूँ जरनैल सिंह तू उनको मारकर वहाँ से दौड़ा दे तो बहुतों का भला हो जरनैल सिंह के साथ बैठे हुए दो जवान और एक उधेड़ उमर सिख बारी बारी एक बोतल से मुंह लगाकर पी रहे थे जरनैल सिंह ने मुड़कर देखा और हाथ बढ़ाकर उनसे बोतल छीन ली हाय जरनैल सिन्हा खुशी का मौका है उधेड़ उमर सिख बोला तेरी मौत का मौका भी अभी आएगा जब तू बुड़बुड़ करने लगेगा और सारे बॉर्डर को जगा देगा चलो मिठाई खाओ तुम्हारा दिमाग कुछ अपनी जगह पर बैठे तीनों बेदिली से शक्कर पारे और जलेब के टुकड़े उठा उठा कर मुंह में डालने लगे जरनैल सिंह के बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पट्टी लिपटी थी उसने पट्टी खोली तो उंगली के पोरे पर कटे हुए मांस का चीरा लगा था उसने बोतल के ढकने में थोड़ी सी शराब उंडेली और उंगली उसमें डबो दी जख्म आ गया है जरनाल सेना अहमद ने पूछा आया किधर से है आप ही लगाया है क्यों क्या बताऊं भाई अहमद मेरी तो नींद ख़त्म हो गई है अल्लाह रहम करे क्या बात है मेरे पेट में देर से तकलीफ़ उठती थी आखिर मैं डॉक्टर के पास गया उस सुअर की हड्डी ने दवाई शवाई कोई ना दी बस दारू पीने से रोक दिया अब ये देख ले क्या कसब करता हूँ उंगली को चीरा देकर दारू में थोड़ी देर रखता हूँ तो कुछ सरूर आ जाता है मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है अहमद ख़ान अल्लाह रहम करेगा चाचे ने कहा अब परात में चंद टूटे फूटे जलेब और शक्कर पारे रह गए थे जरनैल सिंह ने उंगली शराब से निकाली ढकने की शराब एहतियात से वापस बोतल में उंडेली ढकना ऊपर कसा और बोतल को तहमद की दब में उड़स लिया फिर उसने उंगली पे पट्टी लपेटी और परात उठाकर ज़मीन पर उलट दी गोया महफिल के खात्मे का ऐलान कर रहा हो सब उठ खड़े हुए तुझे देखकर खुशी दूनी हो गई है अहमद खान जरनैल सिंह ने चाचे के कंधे पर हाथ मारकर कहा आज सवेरे हमें खबर मिली तू अपने ख्वाब में भी नहीं था कि तू इधर पहुंचेगा हम तो बात के पीछे चले आए जरनैले चाचा नीची आवाज़ में ललकार कर बोला चाचा नीची आवाज़ में ललकार कर बोल तू बात के पीछे बॉर्डर पार करके आया है तू समझता है कि तेरी बात मेरी बात से बड़ी हो गई मेरी लात भी कट जाती तो मैं इधर पहुंचता मानता हूँ अहमद खान मानता हूँ चल अब गुस्सा ना कर दोनों ने हाथ पे हाथ मारा और अपने अपने रास्ते पर हो लिए यक ठंडी रात के अंधेरे में आसमान पे सितारे अपने हुजम से बड़े नज़र आ रहे थे काले कमलों में लिपटे सायों की मानिंद खेतों के बीच बीच चलते वो गांव की राह माप रहे थे मेरे पेट में गड़बड़ है साईं चल्ला चाचे के बोझ तले भारी भारी सांस लेता हुआ बोला तेरे मैदे में जलेब बोल रहे हैं चाचे ने कहा दो साबत जलेब और दस शक्कर पारे तू मेरी आंखों के सामने हड़प कर गया है तू गिनता रहा है हाँ अब बहाने न बना चलता चल रास्ता थोड़ा रह गया है साई ने जोर लगाया तो उसकी हवा छूट गई दोनों लड़के हंस पड़े चुप करो बदमाशो चाचा साईं की तरफदारी करता हुआ बोला अब्बा अब्बास ने कहा साईं कहता था किसी की आवाज़ ना निकले अब गोले छोड़ रहा है मैं कल हरिया वाले मज़ार पर जा रहा था साईं दुखी आवाज़ में बोला पता नहीं क्यों रुक गया मेरी किस्मत में पैंडा लिखा था ना शुक्री ना कर चाचे ने कहा हरिया वाले में तुझे जलेब कौन देता साईं एजाज ने पूछा हर एक मज़ार पर बारी बारी जाते हो हम्म, साई ने सर हिलाया वक्त मुकर होता है कौन मुकर करता है मुझे निशानी मिलती है कहाँ से मिलती है उधर से साई ने आसमान की जानब इशारा किया कैसी निशानी कोई तारा चमकता है तो मुझे इशारा मिल जाता है इशारा मिलता है कि फ़लाँ फ़लाँ मज़ार पर जाओ हाँ तारा चमक कर मज़ार का नाम कैसे बताता है साई ये तेरे मलूम करने की बात नहीं बच्चे फ़कीर को इसका इल्म होता है तारे को कभी गलती भी लग जाती है चाचे ने कहा इधर साईं को इशारा दिया उधर ठीकरी वाले मज़ार के फ़कीरों को भी इशारा दे दिया साईं ने चाचे की बात का जवाब ना दिया मगर जब वो घर पहुँचे तो साईं ने चाचे को यूं धम से पलंग पर गिराया कि चाचे की हाय निकल गई आसमान पे पो फट रही थी जब एजाज बिस्तर पे लेटा तो उसके दिल को ये फिक्र लगी थी कि सरफराज का स्कूल से तीसरा दिन भी गैर हाजिरी में गया मगर ख्वाब में जाने से पहले उसकी बंद आंखों में दो ही मंजर आए एक कनीस का चेहरा दूसरा सकीना का बर्ची की तरह तेज़ चेहरा जिससे ताना निकलकर एजाज को काट गया था